इनके रब ने जो कुछ इन्हें अता फरमाया है इसे ले रहे होंगे वो तो इससे पहले ही नेकोकार थे